हार माया के तो जिला गे राज में जमीन ढोड़ जाए माया तो लागे राज में ए जने दो डेरे जाए सुमरा शिव जवरा ले जावशे ए पाड़ी अरे वे खाड़ सुमड़ा शिव जवरा ले जावशे पड़े अरे वे खोड़ डांगा आवे ला भगवान रा जावे पलग में टाड़ डांगा आवे तो पलक में टोल डांगा याद राजा राम देव नारायण वाला भया मानो पकड़ाओ ता गाजोड़ी नहीं साले गेल गेल बराबर सी पावनी माया ही है हाथरू मेल मेल दातार वह स्त्री सुमारे घरे माया माया दिनी भगवान सुमने नहीं खर्चे नहीं खाए खाए जे कोडी खेरू करे तो भूखो ही बने ए चाराना का उजाड़ हो जावे तो हर दिन भूखो रहे जावे अटली कुछ अन्न काटे जे कोडी खेरू करे भूखो बाने हाड हाड माया लागे के तो राज में के जमी दोठ रे जाए रे जाए मर्द को अल्ले भी के बतावनी नहीं आवे हाँ। कहीं टा मरा नहीं मरा जीते अंशो नीड जावे निकल जाए बस लारन टाबर खुना खोदे किने दादो जान ऊंचा हाथ करता जो होरी माया लगती अरे सुमड़ा जीव झमड़ा लिजाई पड़ी रे ला खोड़ डांग्या आवे राजा भगवान का लिजाई एक पलक में टोड़ भगवान का दूध बारा फिरे तो एक पलक पर रहने देना नहीं, नहीं रहने अरे अरे महादेव जी प्रश्न मेर माया देर माया खान का मार्ग बताओ आप बता ही दो तो भी तेजो जी मानी नहीं है तो हाथ जोड़ फिर भी कहीं कहे हे दादाजी माया मैं जरूर खावा आप रहा तो खर्च में जब है हाँ तो, तो ठीक तो, है ठीक है तो खरीद तेजा रहा उतने और तेज सी भाई कहे भाई कहे जी तो Hey! से दारा सा जय गया जियो सुनावण आर मारे तिजारा सा जय गया गया सुनावण आर लाका पर ले कोई झाड़दा कई अगले गाला रे लाका पर ले कोई झाड़दा कई अगले गाला माया जोड़ जोड़ रे जी મારા લાખાયો પર જોડ માયા જોડ જોડ રે જેવાડા लखायो लाखायो बरजोर थारे मरिया पजर नर मानवे लेवा कणग तीता थारे थारे मरिया पसे वो नर मानवे लेवा कणग तीता दियो नियो बे नर बाणवे नहीं पेरो लराय रे दियो नियो बे नर बाणवे नहीं पेरो लराय जुग में लंका पतरा कैया कले गोला जुग में लंका पतरावणी विया कैया कले गोला हुन घर विकियो लंका सुहावनी हाड़ खियो सिनवा हुन घर विकियो दियो लंका सावने छोड़ दियो सिनेमा आय रे हाथी डारे गाहिंडता गोड़ो पाय गामा आय रे हाथी डा तोरे गाहिंडता गोड़ो पाय गामा आय रानी रे गियो बादल महल में माया रे गी तू जाय रण सारे गा माया रे गी तू जा रे गाडोड़ा जी तमड़ा रे गया खोडा रे गोधान रे गाडोड़ा तमड़ा रे गया खोडा रे गोधान माने मारते लोग में मैलदा खोडा लुटाओ धान रान मारते लोग में बैजदा खोडा लुटाओ धान धान में मुन्द्रू संसार मसा रात धन मे मुन्द्र जिक्र करूं संसार में बजा दिन रात ध्याने एक घड़ियो भूला नहीं रीति जवन झपन राम ने एक घड़ियो भूला नहीं रीति जवन जाबान सोना राम इंदर मारिया रूपा राखे वाड़ रे सोना रा तुम तो इंदर माड़िया भला सेजारा साजा गया गया ही सुनावनी हार हार लाखा पर लेको जोड़ता वे नरका ही लेगा लार माया जोड़ जोड़ रे जीवड़ा लाखा पर करोड़ करोड़ करोड़ ही मता विजा तो महिलो मन करे दो करोड़ विजा तो ठीक हाँ ठीक है गाड़ी है बे ले मार हो ले माया जोड़ जोड़ जीवड़ा लाखा पर करोड़ मरिया पचे मानवी आ खणती ले तोड़ बियो नहीं बहन भाणजी नहीं पैरियो उधरा उम्र में बहन भाणजी ने हाथरी कांसर भी नहीं दी नहीं दी रही अरे आज सो जो फिर भी कोई नहीं है दियो नहीं बहन भाणजी ने पैरियो उधरा वो लंका पतराउन वियो कहीं लेगो ला लार उनगर वेती लंका सोवनी छोड़ गयो छिनवा छिनमाई अतिरे का हिंडता घोड़ा पाएगा रानी रहेगा बादल मेल में माया रहेगी तू जाय काडोड़ा दमड़ा ही रहेगा और खोडा में ही रहेगो धान हे भगवान अब पाछो महल तो मैं खोडा लुटाऊ धान धान निंदर कराऊ संसार में बजू दिन रात रात एक घड़ी आपने भूलू नहीं रीति जावनी जबान आठ पोर बतीस घड़ी आपरा ही नापरा नाम री माला अब मैंने फाचो भेज दे हे राजा रावण लंका जेड़ो थने राज दियो कोई बात री खुमी नहीं राखी नहीं राखी अस्सी करोड़ गज बंद अस्सी करोड़ गज बंद अरब दस त्री तुरी तोकार तोकार सोलह से साउंत पैदल लल अठारह अठारह छत्री करोड़ पांच लाख पंद्रह सौ राजा राजा सबड़ा बाजे शंख सुने अमरापुर बाजा बाजा राम बदाया सब बजा बढ़कर बजान कोई बनकर राजा रावण बजो धकन दियो एक पलक में खोज यो पलक में खोज लंका कह टूटे लागे दुश्मन का डाव जन घर ही फूटे घर फूटो जन राजा रावण का राज गया गया ईशा ईसा राजा धरती माते लंकेश जी दिया जो कोई थिर को रिया नहीं, नहीं रिया अरे माया उनकी की कर कटाओ हाँ। बारह वर्ष की या माया है बारह वर्ष की आप काया है शिव वरदान दियो है खूब माया मानो और धरती में नाम ना कर हाउस करो करो तो तेजो राउत देखियो एक लारी बात दिखे नहीं नहीं है को भाई माया खाओ तो मार्ग बताऊं बता चोईस भाई आप कने सिरदार कोनी धरती में छंटवा छंटवा सिरदार लाओ लाओ एक एक भाई के ना हजार हजार सिरदार नौकरी में रखो रखो सरदार के साक राखना चौड़ी छाती रा पतली सी कमर रा हाँ। बिमला सा नैना रा बंगड़ो को पट्टा ना सावरा सावरा फंसा ना डिगी गिरदन रा थोड़ो काम पड़े उड़ी री बोमरे में काच री चूड़ी बिक्री जुन बिक्री एड़ा सरदार खा रहा है उन्होंने और घोड़ा ले दो समदा की पार का पार का घोड़ा कशाक नाना हाँ। कौन कबूतर कोला जाता कोल कबूतर कोला गणपा कर गण मोला मोला दाठे काची आर भी मुंडी कुट मुर्गा हिरणा हर लाख लाख बड़ा कुदा दा पड़ा दापना दापना पिंडा तिल पड़ जावे माखी माखी सेड़िया पर करे सिंकारा देवे पंदड़िया घोड़ा सवारा ने सेड़ता मिल जावे बावा बावा ही बाय बाहर बेल बाहर हो जावे एड़ा है होना ऐसा कने घोड़ा सवार रखो हाँ। तो छह महीना रमाई ने चौबीस हजार फौज बना ली चौबीस हजार घोड़ा सवार आप लिया या लिया या अब शेर का सुनाना ने बुलाओ ये पोर सर छीणी लगाओ लगाओ एक एक मोर पस पस तोड़ा बरी पड़ाओ पड़ाओ ना का दिराय काचा रेशम में फुआए घोड़ा ने गला ने बांध रेती में दुरानो दबटाओ घोड़ा ना बेब सुनता का टूट जावे मोरा छिंट छिंट भी जावे जावे एक लाख वो होई पैदाश रसोड़े लगाओ लगाई दो आवे तो कोई जिमे सोई बोजरी खुली पोल है पोल है दूसरी लाख कोई पैदाश और बाहर छोचू ने समापो बाहर है दिखाने दे दो अमारो तो बता हमारी समदा पार कर दे हाँ, फिर तो समदा पार ही कर दे तीजी लाख वो पैदाश रसोड़े लगाओ चौथी लाख वो पैदाश धर्म धक्को धर्म धक्को घोड़ा फेर आवा उ करूंगा और दे पांचवी लाख वो पैदाश उतारो रेत में सोनारी कड़ी दान करो मेहरा दान करो तो बकड़ा उता जैसो दाता धरती में नहीं जलमे हो दूसरो दूसरो सवा पांच लाख में मेमुल बांध बांध तो धरती में अमर भेजा भेजा बा दादा भाई बा दादा भाई आप अच्छी है जो को मार्ग बतायो तो कितनी ऊंडी नीम दी है जे पहली वो पंजाब लोग कोष लेवे इतनो इंजाम कार हाँ। और पछ क्यों अब कोई नहीं आप कार्ड नहीं देवा चौबीस हजार फौज बनाई पहली चौबीस हजार गुरु फौज बेगी है इसे खरा खानदानी सिरदार नौकरी में लिया आए जरा हर समझदार लंका में माजन नहीं हो जरा रावण को राज गियो जे माजन में तो लंका रो राज नहीं था लंका में माजन नहीं है माजन बढ़िया है बुद्धिमान है बुद्धिमान वह है तो वो लंका में नहीं हो जब है तो, तो लंका रो राज नहीं जान देता हाँ, सही बात है सवा पांच लाख रो में बांध दियो है अब जो रेंट से धर्मेला करे ये ये रास्ता ले ये छोड़ दू हाँ जरूर ले ला अरे सब सुनियोड़ी है भाई रूम रूम री वाकफ है हाँ ये आप बगड़ाउत मन में सोची है ट्रेन को राजा दुर्जन साल प्यार है तो बड़ो मोटो राजा तो ये मुलाकात बांध ला हाँ। तो अच्छी बात है नहीं लाओ था आप चाय चाय बगड़ाओ देख बोला रेन शेर साला राजा साहब मुलाकात बांध ले आज हाँ आई हाँ है बड़ा आवे तो आवाज गणी दे ये छोटा है और बड़ा हाथ नहीं आवे नहीं लाते ये मध्य प्रदेश में लादे Huh. बल्लारा के कार घोड़ा ताजियो तुर के आर बे अबला के घोड़ा आर घोड़ा ताजियो तुर के आर बे अबला के घोड़ा आर घोड़ा पानियो पत का पावन ने पता हमरा खड़ा यार मारे घोड़ा पानियो पतर पावन ने पता हंस खड़ा यार मार भाई भाई नियो पिलाने नाल का तेज भवार काले यार बिरा नियो पिलाने नाल का तेज भवार काले यार रे बाबा जियो बोरे पिलाण ला दौड़ को पाड़ श्रृंगार रे बाबा दियो भोर पिलाण ला दौड़ को पाड़ श्रृंगार स्वागत कर गोड़ा कासान वे बंगड़िया बारे लाव स्वागत कर घोड़ा खैमान वे बंगड़िया बारे लाव घोड़िया नाचे पण चमके वागणे दौड़ अफूटा पा ઢોળિયા નાચે પણ ચમકે ગણી હે દારો યપોટા પાર ઘોડિયા મરણા સુંદર વનઈ સાવંડર અવતાર ઘોડિયા મરણા સુંદર પીનઈ સાવંડર ઓતાર ઘોડી રે કાટો ખાંચ દોઈ કો આપટા પસાદો પછયાર ઘોડી રે કાઠો બીડી कोई कोपटो आसा दो फसिया अरे कोणी रे मक्यारण लालाई जडी लगा रे मक्यारण जडी ए लाला धडे लागा मैं घणी रे दमसी तो हेरा जडिया आ गळो बुगारा रे दमसी तो हेरा जडिया गळा गोगारा मारे ઓડી રે કેશ કેશ મોતીડા બોયા સો કાપર હીરા ચાર ઓડી રે કેશ કેશ મોતી દે બોયા સો કાપર હીરા ચાર ઓડી રે પગાઠ મુકે ને આવર્યા હે સોને લપેટા પહાડ ઘોડી રે પગાઠ મુકે ને આવર્યા હે સોને લપેટા પહાડ અણિયાળા ને વારવા और सोना का पीला रे अणियाला ने बरबादना सोना रा पीलार पाखर बंगियो मंदवा सामने अब बोध भणो असवार पाखर बंगियो मंदवाई सामने अब बोझ भणो असवार मारे लड़ गूंगा बड़ा कबला घोड़ा पिलानो सूरवा काबलरा के कान ताजी तुर्की आरबी ये लगे घोड़ा और पानी पता पाउन पता अंश कड़ा यार मोर बाबा जी मोर पिलान दो दन पाठ सिंगार स्वागत कर साणी घोड़ी बंगली ना बारे लाव या नाचे चिमके ओजगे दरे बूटा पाव मरना नी डरे कोड़ी चामड़ा के अवतार अवतार काटो भीड़ो उपटो पासा देवो पचियार मक्यारणो मोचम जड़ियो लालाऊ जड़ी लगाम दमची तो हीरा जड़ी गणज गुगर माल किस किस मोती पोया शोका पुरी हीरा चार पगा ठमू के नेवरी सोने लपेटा अनियाला नेवर बाजना सोनारा पकर बनगी सोवनी बोझ बनो ऐश्वर्य लाख रुपया नो तो घोड़ो आठ लाख री स्वागत नोन का घोड़ा बनाया घोड़ा श्रृंगार लेस लेस किया तो कई आप रो सिरपाव शस्त्र पाती कुले कमान लेस लेस भी जावे वे जावे जी कई रेन शेर ने विदा वे जावे तन पाल खाना तुंगल मंदवा बाजर और फबता गड़ा नार खाना तुंगल रसिया बाजर फबता गड़ा सोनार भर रे कंडियो डोरा सावना सुना का दाड़ा भर रे कंडी जी डोरा सावना सुना राजा वे मरदा डाल भणी कमर कशी तारवार रे हल भणियो गेंदा तणे कमरा कसे तारा वार पीटा पर डाला बड़े हड़े आता धंगाले से लरे पीटा पर डाला बड़े हड़े आता धंगाले से मारे मतवाड़ा बारी आवण्या थक्का धंगाले से मारे सही ज्यादा बारी आवण्या थक्का धंगाले سيل موضى بالغار بيزار شاررا قل لال كماني من بلا تو بيزار شاررا قل لال كمان اندر بھیل شوئی પગ બાંધે છો તારે લાડલો મેલે પગ બાંધે છો તારે ભણ રે કંટીઓ ડો સરિયો જામ એ ભણ્યા હાથ રો તારે હજારે ભોજરે કેસરિયો જામ એ ભણ્યા હે તુરે તારા હજાર મરદા દિલ કે વિરાજે સાગડા ઓ ગતા રાજા હે देवारे तिलक विराजे चौकड़ा को गतारा जाए आवे बड़ा ने में आदन्या बंदे बनगा पींद देखने आवे रसिया बादने हाँ गुरुबदा पगा लकीणी मोचड़ी पेटी सुतन पाव पावे खाना में तुंगल भोजरे फपता गिरा सुनार कंटी डोरा सोमना सुन्या का डाल बनी गेंडा तनी कमर कशी तरवार पीठा पर डाला बड़ा हाथा जंगाली मतवाला भारी बनिया छके जवानी बलका बीजल सारा कले लाल इंद्र मेल सु उतरियो जाने पाक बांध कैसरियो जामो बनियो तुर्रे तार तिलक भिराजे चौकड़ो कोगत राजा देखना आवे बढ़ाने मेदनी तो बांदे बनगा बींद पांच बरो घोड़ो पच्चीस बरो अश्वार कीर्तिया को झूम को जो लेश लेश लेश लेश गया हाथे किया किया सूरबीर सट जावे काड्या जाला किया किया सूरबीर सट जावे सट जावे काई रे तो ग्राम में भाग जावे भाग जावे लाओ भाई ਸਵਾਈ ਬੋਦਰਾ ਸਾਤੇ ਕੀਆ ਕੀਆ ਕਾਡਾ ਕਾਲ ਦਾਲਾ ਸੂਰਬੀਰ ਛੜ ਜਾਵੇ ਛੜ ਜਾਵੇ बावर बाजरे लार सडगा सुरज माल सोनिंदरा अजब सिंह जी गोड़ सडगा सुरज माल सोनिंदरा अजब सिंह जी गोड़ पाटे सडगा तो जे शल मेरा अल्लाह दारा राटोड़ पाटे सडगा तो जे शल मेरा अल्लाह दारा राटोड़ भोजरे हट सॼा राध कुलेरा बोज़रे हट सिंह मामो जे सॼा राध कुलेरा टोड़ सॾा दिया जी ठाकर दाय मां भोलिया डाल रुबाण सॾा दिया जी ठाकर दाय मां हुलिया डाल रुबाण सॾा शीरो देखा देवड़ा और शीशो जागे नाथ सडगा शिरोई का देवड़ा शीशो जागे नाथ सीता सडिया तो मैणा चांगरा अड़ा भड़ा रे डाल सीता छड्या तो रे डाल गुजर छडगा जी बदनार रा मतवाला रे लार गुजर छडगा जी तोड़े डांगरा मतवाला रे डार मरदा यो नंगारा फाज में नौ बुता भाड़े जी न आपता पिस ने शान मारे सदके शरिया ने कल्या और सकवे धर संवार मारे सदके शरिया ने कल्या सकवे धर संवार मारे सद मत वाला ने कल्या सुनवला आप ओपरणी ओपे गणी सोवना तार किया किया सुरा छड़े मतवालारी लार छड़का सूरजमाल सोनिंगरा अजब सिंह जी गोड़ बाटी चढ़गा जसड़ मेरा कनौज का राठौड़ गोजरे अटे सिंह मामो जी छड़ा राज कुड़ी राठौड़ छड़गा दिया दाइमा हुल्ला हडा निर्वाण निर्वाण छड़गा सिरोई का देवड़ा सिसोजा गेलोत सीता मेणा छड़िया चांगरा अडा भड़ारी डाल गुजर छड़गा धोली डांगरा मतवालारी लार यो नंगारो फौज में नो पुत पड़े जिंगार <laughs> होदा में बाजे नौ बता पिसरंगा निशान सड़के सरिया निकलिया चकवे इधर सवान सवान आवड़ा जोड़ भी सवारी सवारी भी, है अमला मलारो को आकरा इडका रालो ए पर पलकरे कान नेड़ी दिशे प्रिया राखी अब पवन पक्का घड़ा और दड़ोड़ाया ठेक का पागा रेन शेर आया आया है एक रेण जट से दीवान है नौ लाख गरानी बस्ती बड़ो दीप शेर हो सवाई बहुत देख रहे बोला भाई एक एक दरवाजे छह महीना बैठना तो राजा साहब ने ठाई नहीं पड़े हाँ, भाई बगड़ाऊ मेहमान आया है आया है नहीं हो जी देख रहे बोला पिंगट घाटे घोड़ा ले ले एक घड़ी घड़ी में आया आया आया आया भेजा आप तो कोई ठा को नहीं पड़े एक घड़ी में ठा पड़ जा सारा शहर में हाँ हे महादेव रे आण बगड़ा रावती आया रे अण में बाले आले हो बाण गोबान रे बगड़ावती आया रे अण में बाले आले हो गोबान अणे अंगा तो पेरुई से डरा कलडा डाल पाण गुजरे अंगा तो करूं से डरा अरे लाल का बाण रे बकड़ा बकड़ावतिया यारण में भाऊ गंते शोर रे बकड़ा बगड़ावतिया यारण में पायो गंते शोर दारो पाओ तो मंदवा बाजन ए मुका तो बरसे नो अरे रे सोई शो कंवर बागरा अरे मुखा बरसे सिंगोर रे रागड़ावतिया यारण में अदशाई खड़ा सापे दरे भगड़ावती आयारण में शाही खड़ा सापे मोरा उसाले बड़े बागरा और पीली कर धीरे मोरा उसाले जे शोरवा पीली कर धीरे तेरे गाटा में तो गोड़ा है शिया शाही गा सापे तेरे पगड़ावती यार नमः बड़ ये बो बड़े बगड़ा वतिया यारण बड़ पंखा ये बो बगले वेगियो शेर के कामया देख नरा कारो बगले वेगियो शेर के गारड़िया हाँ, देख तरारा रोप पाने के गई भर भर बावड़े के कई मरे से बाहर पाने के गई भर भर વાર બાવડે કઈ મારે છે વાર પાણીડો તો ભરણા બોલ ગે હરણ શેર રિયો નાર રે પાણીડો ભરણા બોલ लगे नारियान कलश बंदावे कामण्या गावे मंगला चार इन कलश बंदावे कामण्या गावे मंगला चार रे दिन दिन ये माता दरे दरे यो फड़ारो बाहर रे दिन दिन ये माता दरे दरे यो फड़ारो बाहर रे दिन दिन ये माता ஹர தரே कृष्ण वाला पकड़ा होता यार रेण में अरे बड़ा लोगों भान भाण सोशू बेटा बाग जीरा कर ले कैलूरी लाल कबान कबान बगड़ा बताया रहन में पाओ गुनते शूर सोश बेटा बागरार मुका बरस नूर बगड़ा बताया रहन में शाही घना सफेद डाला डाला मोरा उसाले पीली कर दी रेत डाले ढाल में मोरा देवे रूमाल को फटकारो मोरा छिंट वे जावे और पिनियारी को बेवड़ो फूट फूट जावे ये बेवड़ा ने तो भूल जावे मोरा सुगन डूब जावे डूब जावे बगड़ावता यारण में बड़बंका भूप और गली बेगी शहर की कामनिया देख नरा का उन्हें देख उन्हें भूल जावे उन्हें देख उन्हें भूल जावे हाँ। इसे रूप निदान कई कलश बतावे कामनिया गावे मंगला सार दिन दिने माता धरती सयो मतवाणा को वार दिने धरती माता थारे माते ऐसा जोदात पैदाश हुआ है राम सागरी बावड़ी माते होनो ही होनो उछाल रही उछाल रही आ रण को राजा साहब देखो तीज नी तिमार नी शहर में तो कहीं हलचल मच हाँ, रही है तो की ग्राहकों मचे हो गए को दरबार कटाराई बोमिया है कोई ग्रासिया है एक माने ठा नहीं है राम सागरी बावड़ी माते हाँ होने होने उछाल दियो होने होने उछाल दियो को भाई कटाराई कोई धड़ाई तोड़ा दगो कर शहर में बढ़ जा तो, तो शहर लूट दे ला शहरी बंदोबस्त कराओ हाँ। आठ दरवाजा नौ बारिया ठह दना दरवाजा जड़ दिया सवा सवा मन का ताला जड़ी जड़ी बाहर लो लोग बाहर रह गए मार लो लोग मई रह गए सवाई बात देख बोझा भाई राजा साहब डरिया अबे कोई बाग बगीचे में तो नहीं करो बाग बगीचे में तो नहीं करो अपन डेरा भी देता घोड़ा भी थागा है तो यहाँ पर डेरा भी देवा तो शहर का लोगों ने क्यों है कोई भाई बाग बगीची है सो मैंने बताओ को आपने बाग गणा बावन बाग चौरासी बावड़िया है मरवे बाग उतरो केवड़े बाग उतरो छेल बाग उतरो श्री बाग राजा साहब रो नौलखो बाग है बठे उतरो तो श्री बाग है बठी जमाना तो चौबीस मत वाला खड़ घोड़ा नौल का बाग दरवाजे आया है तो देख सवारी ने सुंदर नाम बागवान हो वो भी दरवाजा जड़ दिया है कुर्सी ढाल दरवाजा के बाहर ने बैठ को बिराजगा तो जाता ही ने कहीं बतलावे Erkayın batak kebe. Evet, dedi. खड़ देने बाग दे दरवाजा बेगा खाल दे देखण देने बाग माली तू धर्म कोई बायला अरे ले ले घोड़ो गाँव मारे तू धर्म कोई बायला ओ ले ले घोड़ो गाँव रे दरवाजा बेगा खाल दे माली तू माला ले ले मोजरी हाँ माने देख सवारी ने क्यों दरवाजा जड़िया है माला ले ले मोज की ले ले घोड़ो गांव गांव दरवाजा खोल दे देख ने हिंदुआ सूरज को भाग भाग ये गांव दे दिया ये घोड़ो दे दिया पच्चीस चौबीस भाई पच्चीस वो थने जाना जाना ये भाई साहब दरवाजा खोलो यह सवाल शांतनियो जी भगवान सुंदर ने किया है किया तो सुंदर जी फाथो कुछ जवाब दे देवे जी दफा जड़ा बदर के वार ताड़ा जड़िया तो भी जार शारा लड़ा बदर के वार माने हुक्म नहीं हो दरबार हेली खुलने रा बाग माने हुक्म नहीं हो दरबार हेली खुलने रा बाग बाग झूठा ते करा सोती राजगम रिब्बा का सुयो टालाते हैं करा सोती राज का डेरा दे दो तो दूसरी बाग में ओनी खुलने रो बाग डेरा दे दो रे चंपा बाग में पोनी खुलने रो बाग डेरा दे दो दूसरा बाग में हाँ। पिजळा पिजळा शाररा अरे जड़िया बजड़ किवाड़ हुक्म नहीं है राजा रो नहीं खुले नोल को भाग ये भागा शु टाड़ा करो थे दस होती राज कमार मेरा दे दो दूजा बाग में नहीं खुले राजा साहब रो सिरे नोल को बाग दूजा बाग में उतर जा हाँ वो बाग राजा साहब रो है हाँ सिरे बाग है तो नहीं खुले हुक्म नहीं है सामत नहीं हो जी क्यों रे भाई सिरे बाग है हाँ सिरे बाग में उतरा उतरा को आप बने की वो मैं दरवाजा नहीं खोल नहीं खोल तो सामत नहीं हो जी कई करना सवाल के के वे जी का खान バラウマか